an talk. Prem Ganga, number 4. प्रश्न का विश्वास से मुक्ति जो विश्वास से बंधे हैं वे कभी भी स्वतंत्र चेतना को जन्म नहीं दे पाते विश्वास से बंधा होना अंधा होना अपने हाथ से अपनी आंखें बंद रखनी तो आदमी विश्वास के जाल में बड़ा आंखें खोली हो विचार करना पड़ेगा और विचार श्रम होंगे क्योंकि विचार स्वयं करना है विश्वास आलस्य है क्योंकि विश्वास दूसरे से मिल जाता है और जो दूसरे पर निर्भर है वो स्वयं कभी भी नहीं हो पाता और जो स्वयं नहीं हो पाता है उसकी न कोई प्रतिभा है न कोई आत्मा चाहे व्यक्ति हो चाहे समाज चाहे राष्ट्र विचार ही आत्मा को जन्म देता है दूसरे सूत्र में हमने विश्वास की मुक्ति के संबंध सोचा आज तीसरा सूत्र पहला था अतीत से मुक्ति दूसरा विश्वास से मुक्ति और आज तीसरा मोक्ष से मुक्ति एक छोटी सी कहानी से शुरू करना एक रूसी लोक कथा मैंने सुनी सुबह है सूरज मिलता है और एक कवि एकांत में सरोवर के तट पर एक लंबे वृक्ष के नीचे बैठकर कविताएं कर रहा है आसपास कोई भी नहीं है वृक्ष पर एक कौआ बैठा हुआ है कवि पहली कविता जिसमें वो कहता है कि सारे दुनिया की संपत्ति का मैं मालिक हो गया सोलोमन का खजाना मुझे मिल गया मैं कुबेर हो गया हूं अब कुछ भी ऐसा नहीं जो पानों को बचाओ सब मैंने पा लिया है उसकी कविता का यह अर्थ फिर आदत के अनुसार जैसा कि कभी कविता पढ़े फिर वो देखता है कि कोई दाग दे वो चारों तरफ देखता है लेकिन वहां कोई भी नहीं सिर्फ ऊपर बैठा हुआ कौआ जोर से कांव कांव करता है और कहता है सो वाट इससे क्या हुआ तू कभी बहुत हैरान हो कभी कह रहा है मैं कुबेर हो गया सारी संपत्ति मेरी हो गई और कौआ कहता है सो वाट क्या हुआ है क्रोध में सभी ने ऊपर देखा और कहा ना समझ कौए तू क्या समझेगा उस कौए ने कहा ठीक कहते हो तुम धन की बात कोई भी कौआ नहीं समझेगा धन की बात सिवाय आदमी के और कोई भी नहीं समझता लेकिन तुम समझते हो कि हम जो धन की बात नहीं समझते ना समझे और हम कौए और ये वृक्ष और ये पौधे और ये सारे पशु पक्षी ये समझते हैं कि धन की बात समझने के कारण आदमी ना समझ हो गया कभी ने ये सोच कर कि ये कौवा नहीं समझ सकेगा दूसरी कविता पढ़ी और कविता में वो कहता है सारे पृथ्वी का मैं राजा हो गया चक्रवर्ती सम्राट हो गया है स्वर्ण सिंहासनों पर विराजमान सब कुछ मेरा है जहां तक दृष्टि जाती मेरा है वो कौए की तरफ फिर देखता है और वो कौआ न मालूम कैसा पागल है वो फिर कहता है इसको शोभा इससे क्या हुआ बड़े से बड़े सिंहास के ऊपर बैठ जाओ तो क्या होगा हम कौए उन सिंहासनों पर बैठने बिल्कुल पसंद ही नहीं करते कभी ने सोचा कि मालूम होता है ये कौआ न तो धन की बात समझता है न यश की बात समझता है कोई सन्यासी कौआ तो नहीं है तो शायद सन्यास की बात समझ सके तो वो तीसरी कविता पढ़ता है और कहता है मैंने सब छोड़ दिया और परमात्मा को पा लिया मैं जीवन से हटाया और मैंने मोक्ष उपलब्ध कर लिया मैं मोक्ष का आनंद भोग रहा हूं मैं मोक्ष में हूं तो वो कौआ लेकिन बड़ा पात्र है वो फिर कहता शोभा इससे क्या होगा कभी तो क्रोध से भर गया है और कहने लगा कि हर चीज में करते हो सौभाग्य तो न धन का कोई मतलब न यश का तो मोक्ष का तो मतलब होना चाहिए क्योंकि मैंने देखा है जो धन और यश को छोड़ते हैं वो मोक्ष की तरफ दौड़ना शुरू कर देते हैं बस तीन तो बातें ही हैं वो कौआ कहने लगा पागल हो तुम या तो धन की तरफ दौड़ोगे या यश की तरफ दौड़ोगे और अगर छूटोगे कुएं से तो खाई में गिरोगे तो मोक्ष की तरफ दौड़ोगे लेकिन जीवन की तरफ तुम्हारी यात्रा कभी भी नहीं और हम जीते हैं हम पौधे हम पक्षी हम सब हम जीते हैं और जीवन का आनंद लूटते हैं जीवन के अतिरिक्त न कोई धन है जीवन के अतिरिक्त न कोई यश है और जीवन के अतिरिक्त न कोई मोक्ष ये कहानी मैंने सुनी तो मैं बहुत हैरान हूं ये कहानी रूस में घटी ये हैरानी की बात ये भारत में घटनी चाहिए भारत हजारों वर्षों से मोक्ष के पीछे भागता है उसके पीछे भागने की दौड़ में जीवन सब तरह से उपेक्षित हुआ है सब तरह से लक्ष्य और विकसित हुआ है मोक्ष पर आंखें अट गई हैं और जीवन जीवन उपेक्षित पड़ा है और मोक्ष मोक्ष है मृत्यु के बाद जीना है अभी और हमारी दृष्टि है मृत्यु के बाद तो जीवन को कौन बनाएगा सुंदर जीवन को कौन बनाएगा सत्य जीवन को कौन बनाएगा शिव जीवन को कौन श्रेष्ठता देगा जीवन को कौन संभालेगा तो जीवन पड़ा है उजड़ा हुआ और हम हम मोक्ष की तरफ आंखें लगाए हुए हैं जीवन के सत्य की खोज और जीवन के परिपूर्ण अनुभव के अतिरिक्त और कोई मुक्ति नहीं है और हम एक ऐसी मुक्ति खोज रहे हैं जो जीवन से विरोधी है तो जीवन विरोधी मोक्ष ने भारत की आत्मा की हत्या कर दी हमने जो मोक्ष की धारणा की है उसने हमें सुंदर और श्रेष्ठतर जीवन नहीं दिया जीवन देखा था दुखद पीड़ित गंदा क्रूप उसे स्वीकृत कर लेने का संतोष दिया इससे तो छुटकारा पाने में तो कौन करे चिंता क्यों करे चिंता क्यों बदले इस जीवन को क्यों फूल खिलाएं क्यों कांटों से डरें चार दिन की बात है किसी तरह गुजार जैसे कोई आदमी रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम के साथ व्यवहार करता है वैसा भारत जीवन के साथ कर रहा है वेटिंग रूम में देखते हैं आप जो भी आदमी आके बैठता है वहीं पांच फूकता है मूंगफली के छिलके फेंकता है वहीं गंदगी करता है वहीं सिगरेट जलाता है वहीं माचिस फेंकता है और उससे कहें कि क्या कर रहे हैं वो कहेंगे वो हमारे बाप का घर थोड़ी ये तो विश्राम ग्रह अभी दो क्षण बाद यहाँ से चले जाएंगे हमें क्या प्रयोजन उसके पहले बैठने वाले लोगों ने भी यही व्यवहार किया है उस विश्राम ग्रह उसके बाद आने वाले भी यही व्यवहार करेंगे वो विश्राम ग्रह एक गंदगी का घर हो जाए और प्रत्येक ये मानता है कोई हमें यहां जीवन भर रहना है थोड़ी देर बैठना है हमारी ट्रेन आएगी और हम चले जाएंगे भारत जीवन के साथ रेलवे स्टेशन के विश्रामालय का व्यवहार कर रहा है इधर साधु संत समझा रहे हैं भारत को कि क्या रखा है दो दिन की बात है अपने अपने समय की प्रतीक्षा है सबकी ट्रेन आएगी और सब चले जाएंगे यहां की चिंता में क्यों पड़े हो स्वाभाविक है कि जीवन के प्रति एक उपेक्षा पैदा हो गई है और उस उपेक्षा का परिणाम भोगना पड़ेगा हम भोग रहे हैं हजारों साल से भोग रहे हैं उपेक्षा ने जीवन के सारे रस स्रोत सुखा डाले जीवन के पौधे पर हमने पानी नहीं दिया फिर जीवन के पौधे पर फूल आने बंद हो गए फिर जीवन का पौधा सूखता चला अब जीवन के पौधे पर सूखी शाखाएं जिनमें न फूल दिखाई पड़ते हैं न पत्ते दिखाई पड़ते हैं और हम सब आकाश की तरफ आंखें लगाए हुए प्रतीक्षा कर रहे हैं कम मरे मैं अभी भावनगर था चौदह पंद्रह साल की लड़की ने आके मुझे कहा कि मुझे आपसे अलग से मिलना है क्या काम है तुझे वो कहने लगी मुझे ये पूछना है कि आवागमन से छुटकारा कैसे मिले जिंदगी से छुटकारा कैसे मिले चौदह पंद्रह साल के बच्चे अगर ये पूछने लगे कि जीवन से छुटकारा कैसे मिले तो कलियां ये पूछने लगी फूल होने के पहले कि धूल में मिलने का रास्ता क्या है पक्षी पूछने लगे ओढ़ने के पहले कि मरने का मार्ग क्या है जीवन को जानने के पहले अंकुर नहीं के कि हमें कुमलाने का रास्ता बता दो मुरझाने का सारा जीवन सारे बीज विषाक्त हो गए एक बात से कि हमने जीवन को सुंदर बनाने की कला नहीं बनाया धर्म हमने जीवन से भागने की जीवन से छूटने की जीवन से दूर निकल जाने की विधि समझा है धर्म को हमने पलायन बनाया इसके धर्म को हमने आर्ट ऑफ लिविंग जीवन की कला नहीं बनाया और भारत को अगर कोई भी क्रांति लानी हो तो उसे अपने समस्त धर्म चिंतन को अपने दर्शन को अपने जीवन की पद्धति को आमूल बदल देना होगा मोक्ष को केंद्र मानना नहीं है केंद्र मानना है जीवन को जो है अभी और यहां इसका यह अर्थ नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि इस जीवन के बाद कोई जीवन नहीं इसका यह अर्थ नहीं है कि मृत्यु पर सब कुछ समाप्त हो जाता है यह मैं कह रहा हूं इसका सिर्फ ये अर्थ है कि जो इस जीवन को ही सुंदर नहीं बना पाते जीवन के बाद कोई जीवन हो तो वो सुंदर नहीं हो सकता इस जीवन के सौंदर्य से ही उस जीवन के सौंदर्य के भवन की ईंटें रखी जाएंगे अगर कहीं कोई मोक्ष है तो जो इस जीवन में ही आनंद को अनुभव नहीं कर रहा है वो मोक्ष में भी आनंद को अनुभव नहीं कर सकता जिसने इस जीवन में आनंद को जाना है वो जीवन में भी आनंद के बीज बो रहा है आखिर मैं ही तो रहूंगा मोक्ष में मर के भी मैं ही तो रहूंगा मैं जो अभी हूं मैं ही कल भी रहूंगा और अगर अभी मैं आनंदित नहीं हूं अगर अभी मैं रस विमुख नहीं हूं अगर अभी मैं शांत नहीं हूं अगर अभी मेरे जीवन में जीना नहीं बच रही तो सिर्फ मरने से सब बदल जाएगा कांटे की जगह फूल हो जाएंगे दुख की जगह आनंद हो जाएगा उदासी की जगह तारे खिल जाएंगे खुशी के सिर्फ मरने से मरने से ये सब कैसे हो सकता है जब जीने से ही ये नहीं हो सका तो मरने से कैसे हो सकता है जब सारी शक्ति थी जीवन की तब हम नहीं आनंद को बरसा सके तो मरने से क्या हो जाएगा ये झूठी आशा है और इस झूठी आशा के कारण जो हम कर सकते थे वो नहीं कर पाए और जो हम कर ही नहीं सकते उसके तो करने का कोई सवाल नहीं है अभी इस क्षण जो जीवन मेरे पास है इस जीवन को अधिकतम तेजस्वी अधिकतम प्रफुल्लित अधिकतम आनंदित कैसे बनाऊं यह है सवाल इसी जीवन से कल का क्षण भी निकलेगा परसों भी निकलेगा इसी जीवन से मृत्यु के बाद के दिन भी निकलेंगे इसी जीवन से अनंत जीवन निकलेगा लेकिन निकलेगा इस जीवन से जो अभी इस क्षण मेरे पास है ये क्षण अगर व्यर्थ जाता है तो आगे आने वाले क्षणों के भी व्यर्थ जाने की संभावना बढ़ती है कम नहीं होती लेकिन ये देश ये देश ऐसा मान के चल रहा है ये जीवन तो व्यर्थ है कोई और जीवन है सार्थक उसे खोजना और उसकी खोज का रास्ता क्या है उसकी खोज का रास्ता है इस जीवन की जड़ें काटो इस जीवन से दूर हटो इस जीवन से भागो इस जीवन को बुरा समझो इस जीवन की निंदा करो इस जीवन से दुश्मनी करो इस जीवन के साथ मित्रता तोड़ो ये जीवन ठीक नहीं है असली जीवन कहीं और है ये जीवन झूठा है इससे हटना है और नुकसान ये गलत बात है ये बुनियादी रूप से गलत बात दो तरह के जीवन नहीं है यही जीवन इसी जीवन का फैलाव है आगे भी जो जड़ें वृक्ष की नीचे पृथ्वी में छिपी हैं उन्हीं जड़ों के हाथ शाखाओं से आकाश में फैले हुए हैं जो जड़ें दूर जमीन में छिपी हैं जो दिखाई भी नहीं पड़ती अंधेरे में है उनका ही एक हिस्सा वृक्ष की कलगी ऊपर आकर फूल बनता है उसी जड़ का एक हिस्सा जड़ अलग नहीं है पृथ्वी के नीचे जो छिपा है वो अलग नहीं है पृथ्वी के ऊपर जो है वो अलग नहीं है वो सब संयुक्त है वो एक का ही विस्तार जीवन एक आनंद सातत्य है मैं जो कल था उससे ही मेरा आज जुड़ा है मैं जो आज हूं उससे ही मेरा कल जुड़ा होगा जो मेरा पिछला जीवन था उससे मेरा ये जीवन जुड़ा है जो मेरा आगे का जीवन होगा वो भी इसी जीवन से जुड़ा होगा मोक्ष इस जीवन से दूर और उल्टा और भिन्न कहीं नहीं हो सकता वो इसी जीवन की अंतिम कंटिन्यूटी है वो इसी जीवन का अंतिम ताकत इस जीवन से उल्टा हो नहीं इस जीवन से विपरीत हो नहीं इस जीवन की हत्या करके उसे नहीं पाना है इस जीवन को समार कर सुंदर बनाकर इस जीवन को श्रेष्ठ और सत्यतर करके ही उसे पाया जा सकता है भारत की प्रतिभा को चोट पहुंचाने वाली बड़ी से बड़ी बात सबसे बड़ी बात सबसे संघातक बात यही रही है कि हमने इस जीवन के प्रति निंदा का एक दृष्टिकोण अंगीकार कर लिया जिसे देखो वही जीवन के विपरीत और विरोध में जिसे देखो वही हम इस जीवन के साथ वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं जिसका सुना होगा औरंगजेब ने अपने समय में राजधानी में खबर कर दी थी कि संगीत अब राजधानी में मरा हुआ समझ लिया जाए कोई वीणा नहीं बजेगी और कोई गीत नहीं गाया जाए संगीतज्ञ तो हैरान हो गए सारे देश के श्रेष्ठम संगीतज्ञ राजधानी में उपस्थित उन्होंने विरोध के स्वर में प्रोटेस्ट की तरह सुबह जनाजा निकाला एक अर्थी निकाली सारे संगीतज्ञ रोते पीटते हुए अर्थी के पीछे जा रहे हैं राजमहल के करीब से निकले और मुझे अपने मकान पर खड़ा है उसने पूछा कौन मर गया तो उन रोते हुए संगीतज्ञों ने कहा कि संगीत की मृत्यु हो गई है औरंगजेब ने उस खिड़की पर से कहा ठीक हुआ अच्छा हुआ जरा कब्र गहरी गाड़ना जिसमें संगीत वापस न लौट आया भारत जीवन के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है औरंगजेबी व्यवहार जीवन को ऐसा गड़ाया है कि कहीं निकलना जीवन का कोई संगीत मत सुनना जीवन की कोई मुस्कुराहट मत देखना जीवन का कोई सुख नहीं नहीं जीवन का कोई आनंद नहीं नहीं जीवन में कुछ भी नहीं है जो भी है बुरा है और जो अच्छा भी दिखाई पड़ता है वो भी धोखा है उसके पीछे भी बुरा ही छुपा होगा इसलिए बचना भागना दूर हटना और जीवन को गला देना तब मिलेगा मोक्ष तब मिलेगा परमात्मा बहुत अद्भुत परमात्मा है अगर परमात्मा जीवन का इतना विरोधी है तो जीवन है ही क्यों अगर परमात्मा को जीवन इतना बुरा मालूम पड़ता है तो जीवन के होने की वजूद क्या है जरूरत क्या है जीवन के होने का कारण क्या है अगर परमात्मा दुश्मन है जीवन का तो खत्म क्यों नहीं कर देता कौन कहता है उससे कि जीवन को चलाए ये जीवन की इतनी बड़ी लीला जिस सृजन स्वरूप से चल रही है जरूर वो इसके पक्ष में होना चाहिए अन्यथा ये क्यों चले ये जो जीवन का इतना विस्तार है फैलाव है अगर ये जीवन के केंद्र से आकांक्षित ना हो तो क्यों चलेगा क्यों फैलेगा प्रयोजन क्या है नहीं लेकिन परमात्मा तो जीवन के पक्ष में है महात्मा जीवन के पक्ष में नहीं है महात्मा जीवन विरोधी और परमात्मा जीवन पर रोज नए नए रूप नए नए फैलाव किए चला जाता है परमात्मा थकता ही नहीं जीवन के विस्तार से जीवन के सृजन से वो उगता नहीं लेकिन महात्मा बहुत परेशान है और महात्मा जीवन के विरोध में समझाए चले जा रहे हैं समझाए चले जा रहे हैं कोई उनकी समझ लेता है ऐसा नहीं है कोई उनकी मान ही लेता है ऐसा नहीं है कोई उनकी मानता नहीं लेकिन फिर भी उनकी बातें मन को विषाक्त कर जाती जीवन की जड़ों को ढीला कर जाती मन को दो हिस्सों में तोड़ जाती है फिर हम जीवन को भोगते भी हैं और भयभीत भी होते हैं जीवन को भोगते भी हैं और डरते भी हैं कि पाप हो रहा है बाप बेटे को गले भी लगाता है और सोचता है कैसे माया मोह में पड़ रहा हूं पाप लग रहा है नरक का रास्ता बना रहा हूं जो बाप अपने बेटे को छाती से लगाते वक्त ये भी जानता हो कि नरक का रास्ता बना रहा हूं उस बाप ने अपने बेटे को कभी छाती से लगाया हो हड्डी से हड्डी लगी हो भीतर का कुछ भी नहीं मिला हो भीतर का कैसे मिल सकता है पति जानता है कि पत्नी नरक का द्वार है और उसी पत्नी को कह रहा है कि मैं तुझे प्रेम करता हूं और भीतर एक स्वर महात्माओं का स्वर भीतर बैठा हुआ है कि कहा नरक के द्वार से प्रेम में पड़ रहे हो इस देश में कोई पति किसी पत्नी को प्रेम नहीं कर सकता क्योंकि वो नरक का द्वार प्रेम किया जा सकता प्रेम करेगा भी प्रकृति प्रेम भी कराएगी निसर्ग प्रेम में भी ले जाएगा और महात्माओं के स्वर पीछे से गूंज रहे पार्थ भूमि से उनकी आवाज आ रही सावधान नरक के रास्ते पर जा रहा हाथ खींच भी रहे हाथ बढ़ा भी रहे हैं भारत की पूरी प्रतिभा कॉन्फ्लिक्ट में पड़ गई है द्वंद्व में पड़ गई है जिस तरफ हाथ बढ़ाते हैं वहीं से दूसरा हाथ कहता है खींच लो पाप में पड़ रहे हो अगर ऐसी मनस्थिति हो जाए किसी देश की तो उसकी प्रतिभा कैसे विकसित हो कैसे सृजनात्मक हो तब एक पाखंड पैदा होता है तब हम जो कहते हैं वो नहीं कर पाते हैं और जो करते हैं वो नहीं कह पाते हैं फिर जीते हैं और तरह से मानते हैं और तरह से चलते हैं और तरह से आंखें रखते हैं और तरह से और सारा व्यक्तित्व खंड खंड सारा व्यक्तित्व डिसइंटीग्रेटेड सब टूट फूट हो जाता मैंने सुना दिल्ली के एक म्यूजियम में अगर आप दिल्ली गए हो नहीं तो अखबार में तो फोटो देखी होगी वो तीन बंदरों की फोटो आपने जरूर देखी होगी जिनको गांधी जी प्रसिद्ध कर गए तो तीन बंदर मुंह से हाथ लगाए हुए कान से हाथ लगाए हुए आंखें बंद किए हुए वो दिल्ली के एक म्यूजियम में तीनों बंदर बैठे दिन भर तो बेचारे लोगों की वजह से ऐसे सदे हुए बैठे रहते लोग देखने आते रात जब दरवाजा म्यूजियम का बंदर बंद हो जाता है तो बंदर बंदर हो जाते हैं सब छोड़ छाड़ देते हैं फिर क्या गांधी की खास फिक्र करेंगे गांधी की फिक्र गांधी के पीछे चलने वाले आदमी नहीं करते गांधी की पीठ हुई और सब बदल जाता है तो बंदरों का क्या भरोसा है जैसे दरवाजा बंद होता है म्यूजियम का बंदर उछल कूद करने लगते हैं सब उपद्रव करने लगते हैं एक दिन रात में तीनों लड़ रहे हैं एक दूसरे की गर्दन दबा रहे हैं एक बुद्धे ने दरवाजा खोला उसने कहा ये तुम क्या कर रहे हो तीनों बंदर चौंक गए रात तो कोई कभी आता नहीं उन्होंने कहा आप कैसे बेवक्त आ गए देखने का समय तो दिन होता है और दिन को हम हमेशा हमारी टेबल पर होते हैं और ठीक पोजीशन में होते हैं और ठीक आसन में बैठे रहते हैं और रात के लिए थोड़ी ठेका ले रखा है कम से कम रात को तो हमें छुट्टी दो दिन भर तो हम मुंह से हाथ लगाए लगाए थक जाते हैं कान से हाथ लगाए हुए बंदर है हम और आंख से हाथ लगा के बैठना दिन भर सोचते हैं कितनी मुसीबत होती हो तो रात को छुट्टी दो रात को तुम कैसे आ गए हो ये कोई वक्त है और उस बुढ़े ने कहा कि बकवास बंद करो तुम पहचाने नहीं कि मैं कौन मैंने तुम्हें हिंसा सिखाई थी तुम एक दूसरे की गर्दन काट रहे हो गालियां बक रहे हो तब एक को शक हुआ कि ये बुढ़ा कहीं तो गांधी तो नहीं है वो सकते जल्दी से अपनी मेज पे बैठ के उसने आंखें बंद कर ली उस बूढ़े आदमी ने कहा कि अब क्या होता है आंख बंद करने हिंसा देख रहे थे हिंसा में भागीदार थे और आंख बंद किए हुए बंधन में कहा क्षमा करिए मैं तो आंख बंद किए बैठा हूं मुझे तो गांधी बाबा ने सिखाया है कि बुरी चीज देखनी नहीं चाहिए तो मैंने कुछ देखा ही नहीं क्या हो रहा है मुझे कुछ पता ही नहीं बूढ़ा तो बहुत क्रोध से भर गया उसने कहा मैं अपनी आंख से देख रहा हूं कि तू भी लड़ रहा था और अब तू कह रहा है कि देखा ही नहीं तब तक दूसरा बंदर भी आके बैठ गया उसने कानों से हाथ लगा लिए और तीसरा बंदर भी छलांग लगा के आ गया उसने अपना मुंह बंद कर लिया उस बूढ़े ने दूसरे बंदर से कहा कि सुनते हो ये कितना सरासर झूठ बोल रहा है उस दूसरे बंदर ने कहा मैं तूफान से हाथ बताया हूं मुझे कुछ सुनाई ही नहीं पड़ता तो बूढ़ा तो बहुत हैरान हो गया उसने तीसरे बंदर को हिलाया कि तू बोल ये दोनों झूठ बोल रहे हो उसने कहा आप देखते हैं कि मैंने तो मौन का व्रत लिया हुआ बोल के बता रहा है कि मैंने मौन का व्रत लिया हुआ मैं बोलने वो बूढ़ा क्रोध से दरवाजा बंद करके बाहर चला गया तीनों बंधन आपस में पूछने लगे कि हो ना हो ये बूढ़ा गांधी होना चाहिए लेकिन सुना हमने तो गांधी को बोल सुने गोली मार दी तब से हम निश्चिंत हो गए सभी गांधीवादी निश्चिंत हो गए तो बंदरों का क्या निश्चिंत होने में मगर ये बुद्धा कौन है पता नहीं बुढ़ा कौन था मुझे भी पता नहीं है उन बंदरों को भी पता नहीं चलता था पता नहीं कौन था लेकिन तीनों बंदर सोचने लगे कि बिल्कुल गांधी जैसा मालूम पड़ता है और उसी रोक टोक से कहने लगा कि अहिंसा बरतो लेकिन जब गांधी के मानने वाले पीछे मानने वाले कोई नहीं मानते तो हम क्या हम तो कम से कम दिन भर मानते हैं जब भी म्यूजियम खड़ा रहता है तो अपने बिल्कुल सदे बैठे रहते हैं ये जो दिन में एक शकल जब म्यूजियम खुला हो और रात में दूसरी शक्ल जब म्यूजियम बंद हो ये हम सबकी शक्लें हो गई तो ये बंदरों की नहीं पूरे भारत के हर आदमी की शक्ल हो गई एक शक्ल है जो हमें शिक्षाएं दी गई हैं उनके अनुसार हमने ढाल दी और एक शक्ल वो है जो हमारा निसर्ग जो हमारी प्रकृति हमसे पुकार करती और इन दोनों के बीच विरोध और भारत इस विरोध को हल नहीं कर पाया इस विरोध को हल न कर पाए जो धर्म जो दर्शन कूड़ा कचरा है क्योंकि असली सवाल यही है मनुष्य का कि मनुष्य के भीतर जो निसर्ग है जो प्रकृति है उसके और जो परमात्मा है उसके बीच में एक समाधान एक सेतु एक ब्रिज बनना चाहिए मनुष्य की प्रकृति और मनुष्य के अंतिम चरम परमात्मा के बीच मनुष्य के प्रथम चरण और मनुष्य की अंतिम उपलब्धि के बीच मनुष्य के निकृष्टतम और मनुष्य के श्रेष्ठतम के बीच विरोध नहीं होना चाहिए एक सेतु बनना चाहिए एक ब्रिज बनना चाहिए कि मनुष्य एक एक सीढ़ी निकृष्ट से उठे और श्रेष्ठ तक पहुंच जाए लेकिन भारत इसको हल नहीं कर पाए भारत ने इसको हल किया ऐसे तो उसने निकृष्ट को कहा कि वो अलग है और श्रेष्ठ अलग है और दोनों के बीच खाई खड़ी कर दी और आदमी दो हिस्सों में विभाजित हो गया रहता तो निकृष्ट में दिखलाता श्रेष्ठ में और सब एक पाखंड सारे प्राणों को घेर लिया है एर्नोल्ड चैनबी ने कहीं एक वक्तव्य में ये बात कही कि पश्चिम की जो संस्कृति है वो सेंसेट कल्चर वो एंद्रिक संस्कृति उसकी इस बात को भारत के साधु सन्यासियों ने फौरन पकड़ लिया हम तो यहाँ इसी तैयारी में रहते हैं कि कोई किसी की निंदा करता हुआ दुनिया में कहीं मिल जाए तो हम फौरन उसकी निंदा को पकड़ने और कहें कि देखो वो सब लोग ऐसे हैं ताकि हमारे मन को तृप्ति मिले कि हम भी कुछ ज्यादा बुरे नहीं तो अर्नल टाइनपी ने इधर कहा कि सेंसेट कल्चर है पश्चिम का एन्द्रिक संस्कृति है सारे भारत के साधु संन्यासी दोहराने लगे कि देखो पश्चिम की संस्कृति तो ऐन्द्रिक संस्कृति है और हमारी हमारी आध्यात्मिक संस्कृति मैं उनसे कहना चाहता हूं और एरनॉल्ड सैनबी को भी कि तुमने आधी बात कहती गलती की पश्चिम की संस्कृति सेंसेट है एंड्रिक है ये सच लेकिन पूरब की संस्कृति और भी बदतर वो हिपोक्रेट वो पाखंडी आध्यात्मिक नहीं है और मैं आपसे कहना चाहता हूं ऐन्द्रिक संस्कृति अगर ठीक से विकसित हो तो आध्यात्मिक हो भी सकती है लेकिन पाखंडी संस्कृति किसी भी तरह विकसित ही नहीं हो सकती आध्यात्मिक होना तो बहुत मुश्किल है पाखंड का मतलब यह है कि जो हम हैं वो कुछ और है और जो हम दिखलाते हैं वो कुछ और पाखंड का यह मतलब है कि हम जो चाहते हैं वो कुछ और है और जो हम बतलाते हैं लोगों को कि हम चाहते हैं वो कुछ और हमारी दो शक्लें हैं हमारे दो रूप हैं और हर आदमी भली भांति जानता है कि उसके दो रूप जब वो मुस्कुराता है तब पक्का नहीं है कि भीतर भी मुस्कुरा रहा है जब वो नमस्कार करता है तो पक्का नहीं है कि भीतर भी नमस्कार कर रहा हो और जब वो कहता है आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई तो हो सकता है भीतर कह रहा हो दुष्ट की सकल सुबह से कहा निकल रहा है भीतर कुछ और है बाहर कुछ और है बाहर अहिंसा की बात है और भीतर हिंसा उबाल ले रही है तीन चार हजार वर्षों से हम अहिंसा की बात कर रहे हैं लेकिन कितनी अहिंसा है हमारे पास कितनी अहिंसा हो पाई कौन अहिंसक है अभी हिंदुस्तान का हमला हुआ चीन का या पाकिस्तान का तो हमारी अहिंसा का कहीं भी पता नहीं चला फिर खोजने से भी एक अहिंसक खोजना मुश्किल बल्कि जो बड़े बड़े अहिंसक थे वो भी कहने लगे कि अब तो अहिंसा की रक्षा के लिए हिंसा करनी पड़ेगी आश्चर्य अहिंसा की रक्षा के लिए हिंसा करनी पड़ेगी तब तो अहिंसा बड़ी कमजोर है और हिंसा की रक्षा की उसे जरूरत पड़ती हजारों साल की अहिंसा की बातचीत के बाद भी भीतर तो हिंसक आदमी मौजूद है वो हिंसक आदमी भीतर से कहीं भी नहीं गया और ये भी हो सकता है कि दूसरों के साथ हिंसा बंद कर दी हो तो अपने साथ हिंसा शुरू कर दी हो लेकिन हिंसा जारी रही हिंसा जारी है बाहर हम सब बातें कह रहे हैं कि लोभ बुरा है परिग्रह बुरा है और भीतर और भीतर ये सब चल रहा है सब लोभ चल रहा है सब परिग्रह चल रहा है सारा जिस जिस बात की हमने निंदा की वो भीतर चल रही है और बाहर हम निंदा भी जारी किए हुए हैं ये अगर दिखाई ना पड़े तो इस देश के जीवन में क्रांति कैसे होगी ये सत्य तो देखना पड़ेगा कि कोई एक एक भीतरी द्वंद है जो हमारे पूरे देश की प्रतिभा को दो हिस्सों में तोड़े हुए भीतर से दो हिस्सों में तोड़े हुए और उन दोनों हिस्सों के बीच तारतम्य खो गया है उसके बीच कोई संबंध नहीं रह गया वे दोनों के बीच कोई मेल नहीं रह गया और ये समझ के बाहर हो गया है कि हम एक खंड से दूसरे खंड को कैसे जोड़ें ये खंडितपन क्यों आया इसके खंडितपन के आने का बुनियादी कारण बुनियादी कारण हमने जीवन और मोक्ष को दो विपरीत बातें मान रखा है हमने जीवन और धर्म को दुश्मन बना रखा है जीवन और मोक्ष जब एक ही चीज का विस्तार होंगे जीवन और धर्म जब एक ही बात के दो पहलू होंगे जब एक ही काव्य की दो कड़ियां होंगी जीवन और मोक्ष तब तब हमारे व्यक्तित्व में इंटीग्रेशन एक योग एक संकलिष्ट व्यक्तित्व एक इकट्ठापन खंड खंड होना टूटेगा और हम अखंड हो सकेंगे और ध्यान रहे जो व्यक्ति अपने भीतर अखंड नहीं है वो व्यक्ति अपने से ही लड़ता है और मर जाता है वो व्यक्ति कभी कुछ नहीं कर पाता हम कहते हैं कि भारत कभी किसी से नहीं लड़ा ये बात सच क्योंकि भारत को खुद से लड़ने से फुर्सत मिले तो वो किसी और से लड़ने जाए ये बात सच है कि भारत कभी किसी से नहीं लड़ा आखिर किसी से लड़ने के लिए कुछ ताकत भी तो चाहिए इधर हम अपने से ही एक एक आदमी के इस तरह में खो जाता है कि लड़ने लायक बाहर जाने का सवाल कहां है भारत की पूरी प्रतिभा आंतरिक युद्ध में संलग्न है हम अपने से ही लड़ रहे हैं हमारा ही एक हिस्सा दूसरे हिस्से से लड़ रहा है जैसे मैं अपने दोनों हाथों को लड़ाऊं मेरा बाया हाथ दाया हाथ लड़ने लगे तो कौन जीतेगा बाया जीतेगा कि दाया जीतेगा कोई भी नहीं जीतेगा हाँ एक बात तय है दोनों में से कोई नहीं जीतेगा मैं हार जाऊंगा क्योंकि दोनों के लड़ने में मेरी शक्ति वह होगी मैं नष्ट होऊंगा मैं टूटूंगा और नष्ट हो जाऊंगा हमने भारत की प्रतिभा को अंतर खंडन में डाल दिया है ये अंतर खंडन एक मोक्ष की कल्पना से पैदा हुआ है जो हम सोच रहे हैं सही है सारे देश का प्रतिभावान आदमी जीवन को छोड़ के भाग रहा है कि हमें मोक्ष जाना है और जो जीवन में रह जाते हैं वो बेचारे आत्मग्लानी अनुभव करते हैं पछताते हैं कि हम कमजोर हैं इसलिए हम जंगल नहीं भाग सक रहे हैं नहीं तो कभी के हरिद्वार चले गए होते ऋषिकेश चले गए होते किसी आश्रम में भर्ती हो गए हम जरा कमजोर हैं हम जरा पापी हैं लेकिन आशा है कि कभी मौका मिलेगा इस जन्म में अगले जन्म में तो भागेंगे जो भाग गए हैं उनके पैर वे लोग छू रहे हैं जो नहीं भागे भागे हुए लोगों के पैर छुए जा रहे हैं पूजा की जा रही है क्या आप बड़े धन्य हैं जो देश भगवानों को धन्य कहता होगा वो देश कभी भी कोई श्रेष्ठता को उपलब्ध नहीं होगा क्यों क्योंकि जब हम भागने को प्रतिभा बनाते हैं जब हम भागने को प्रतिभा का स्वीकार देते हैं जब हम भागने को रिकग्निशन देते हैं और भागने को सम्मान और सत्कार देते हैं तो फिर ठीक है लड़े कौन जिए कौन कौन खड़ा रहे हिंदुस्तान में प्रथम कोटि का आदमी भाग जाता है द्वितीय तृतीय कोटि के लोग काम चलाते हैं सारी दुनिया में प्रथम कोटि का आदमी काम चलाता है इसलिए हम दुनिया के किसी मुल्क के सामने खड़े नहीं हो उनकी प्रथम कोटि की प्रतिभा फर्स्ट रेट माइंड काम चलाती और हमारी द्वितीय और तृतीय कोटि की प्रतिभा काम चलाती प्रथम कोटि का आदमी को तो जंगल काम जाता दुनिया में हमारे पिछड़ने का कारण दुनिया में किसी दूसरे मुल्क के सामने प्रतियोगिता में खड़े न होने का कारण क्या है कारण सिर्फ एक है उनकी प्रथम कोटि की प्रतिभा आइंस्टीन बनेगी उनकी प्रथम कोटि की प्रतिभा न्यूटन बनेगी उनकी प्रथम कोटि की प्रतिभा जीवन के संघर्ष में खड़ी होगी हमारी प्रथम कोटि की प्रतिभा एक मठ बनाएगी जगत गुरु हो जाएगी इस तरह के कुछ काम करेंगे और हम सम्मान देंगे और हम आदर देंगे तो हमारा आदर और सम्मान लोगों को गलत दिशाओं पर ले जाता है ये ध्यान रहे जब तक हम इस देश में जो जी रहे हैं और इस कला से जीवन को जी रहे हैं कि जी भी रहे हैं और शांत हैं जी भी रहे हैं और मुक्त हैं जी भी रहे हैं और सुंदर हैं जी भी रहे हैं और सत्य हैं जब तक हम ऐसे लोगों को आदर न देंगे तब तक इस देश का जो गलत आदर बह रहा है वो अच्छे लोगों को गलत रास्तों पर ले जाएगा कोई प्रतिभाशाली लोगों को भटकाएगा देश की प्रतिभा को खंड खंड करेगा और हम वो इकट्ठापन पैदा न कर पाएंगे जिससे ऊर्जा पैदा होगी शक्ति पैदा होगी क्या कभी आपने ये सोचा कि हम चार पांच हजार वर्षों से सामूहिक रूप से एक संवेद गान एक कोरस चल रहा है जीवन की निंदा हर चीज को निंदा करो जो भी जीवन में है उसे बहुत बुरा है पाप है घृणित है छोड़ने योग्य है हर चीज और अगर ये जारी रहे और हमारे मन में ये बात बैठती चली जाए बैठती चली जाए भोजन करो तो मुश्किल है स्वाद स्वाद पात भोजन करेंगे स्वाद स्वाभाविक लेकिन पाप भोजन कर रहे हैं स्वाद ले रहे हैं पाप भी भोग रहे हैं नरक जाने का रास्ता भी साफ दिखाई पड़ रहा है कि स्वाद ले रहे हो बच्चों संभल के लेना स्वाद नरक का रास्ता तय हो रहा है कि सीढ़ी बढ़ रहे हो तो स्वाद भी ले रहे हो और स्वाद जहर भी हुआ जा रहा है एक साथ दोनों बातें हो रही हैं मैं इस बगीचे में था एक सन्यासी मेरे साथ थे बगीचे में अद्भुत फूल खिले थे और मैं एक एक फूल के पास रुकने लगा और एक एक फूल को देखने लगा उन सन्यासी ने मुझसे कहा आप भी क्या माया में पड़े हुए फूलों को देखते हैं क्या रखा है इन फूलों मैंने उन सन्यासी को कहा आप अपने रास्ते पर चले जाएं मुझे फूलों की आवाज ज्यादा परमात्मा की आवाज मालूम पड़ रही बजाय आपकी आवाज फूल परमात्मा के ज्यादा निकट है फूल से जो प्रकट हो रहा है वो कोई भी नहीं है सिवाय परमात्मा वो जो फूल के रंग में है वो भी वही पक्षी के बीच में है वो भी वही लेकिन महात्मा कह रहा है सब बेकार है सब असार है सब तोड़ो सबसे भागो भाग के जाओगे कहां भागना कहां है भाग सकते कहां हो बस एक ही रास्ता है कि मर जाओ तो भागने का अर्थ भी असल में ग्रेजुअल डेथ धीरे धीरे मरो जीवन से छोड़ो धीरे धीरे सांस जितना सांस छूटेगा उतने मरते चले जाओ मरने की तैयारी करो मरते जाओ मरते जाओ और जीवन से सब तक सांस छोड़ दो सब जड़े उखाड़ लो सूख जाओ और मर जाओ तो ये हमने धर्म बनाया हुआ है फिर जो आदमी जितना सूख जाए हम कहेंगे उतना महातपस्वी जो आदमी जितना मुरझा जाए हम कहेंगे उतना सन्यासी जो आदमी जीते जी जैसे लाभ और मुर्दा दिखाई पड़ने लगे हम उतनी ही पूजा देंगे गलत चढ़ रही है ये पूजा गलत स्थान पर चढ़ रही है इसलिए देश उदास होता गया है विरक्त होता गया है रिक्त होता गया है मन दिक्कत होता गया है सब चीजों पर उदासी छा गई है धूल छा गई है न फूल अच्छे हैं न संगीत अच्छा है न जानदारे अच्छे हैं न गीत अच्छे हैं कुछ भी अच्छा नहीं है अच्छा सिर्फ एक काम है कि भागो और मरो भागो और मरो ऐसा अगर भाव हो तो इसका क्या अर्थ है इसका अर्थ है कि पूरे देश को कोई सुसाइडल हवा कोई आत्मघाती हवा पकड़े हुए पूरे देश में जैसे एक पागलपन छा गया है मरने का और जब सबको छाया हो एक ही पागलपन तो दिखाई नहीं पड़ता बहुत मुश्किल होता है दिखाई पड़ना बहुत कठिनाई होती है पर्दे फाड़ के देखने में जब सबको एक ही बीमारी छा गई हो अगर हम सारे यहां बैठे लोग पीलिया के बीमार हो जाएं तो हमें सब चीजें पीली दिखाई पड़ेंगी और किसी को भी शक नहीं होगा कि चीजें पीली हैं या नहीं क्योंकि पड़ोस वाले को भी पीली दिखाई पड़ती है उसके पड़ोस वाले को पीली दिखाई पड़ती है जब सभी को पीली दिखाई पड़ती है तो अगर कोई एक आदमी ठीक आंख वाला आ जाए और कहे कि मित्रों आप गलती में हैं चीजें सफेद हैं तो हम सब उसको पकड़ लेंगे और कहेंगे कि इसकी आंख में मालूम होता है खराब हो गई चलो किसी डॉक्टर से इलाज करवा क्योंकि चीजें तो पीली हैं क्योंकि हम सबको चीजें पीली दिखाई पड़ती हैं लेकिन हमें पीली दिखाई पड़ना किसी गहरे चश्मे के कारण हो सकता है हजारों साल से हमें जीवन विरोधी बातें सिखाई जा रही हैं इसलिए चीजें हमें पीली दिखाई पड़ रही है मुर्गा दिखाई पड़ रही है और अब अगर कोई कहे भी तो उसकी बाहर समझ के बाहर मालूम पड़ती है मैंने सुना है एक गांव में ऐसा हुआ था एक दिन एक जादूगर आया है और कुएं में आकर उसने मंत्र दे दिया और कहा कुएं का पानी जो भी दिएगा वो पागल हो जाए अच्छा, मजबूरी थी दो ही कुएं थे गांव में गांव का कुआ है राजा का कुआ गांव भर के लोगों ने पानी पिया सांझ तक पागल हो गए राजा भर बचा राजा बहुत खुश हुआ सांझ वो अपनी छत पर खड़ा है अपने वजीरों अपनी पत्नियों के साथ और कह रहा है धन्य भाग हमारे कि हमारा अलग कुआ था नहीं तो आज हम भी पागल हो जाते लेकिन तभी आस पास शोरगुल बढ़ने लगा राजा ने पूछा काय का शोरगुल है मंत्री नीचे गए पता चला कि महाराज बहुत मुसीबत है सारे गांव में यह खबर फैल गई कि राजा का दिमाग खराब हो गया गांव पागल हो चुका था राजा भर बचा था अब पागलों के बीच में न पागल होना इतना कष्टपूर्ण है जितना न पागलों के बीच में पागल होना कष्टपूर्ण नहीं राजा ने कहा क्या मतलब हम पागल हो गए हैं कौन कहता है ये वो सब पागल हो गए हैं वजीर ने कहा लेकिन समझाओगे तो किसको पहरेदार भी पागल हो गए सैनिक भी पागल हो गए अधिकारी भी पागल हो गए सब पागल हो गए समझाओगे किसको सुनेगा कौन राजा ने कहा कि बड़ी मुश्किल लेकिन सभी महल के आसपास लोग मसाले लिए आ गए और वो चिल्ला रहे हैं कि राजा पागल हो गया हम ऐसे पागल राजा को एक क्षण बर्दाश्त नहीं करेंगे हम ठीक राजा को सिंहासन पर बिठाएंगे राजा ने कहा क्या होगा क्या करूं वजीर ने कहा आप भागिए मैं उन्हें रोकने की कोशिश करता हूं आप पीछे से जाके उस कुएं का पानी जल्दी पी के वापस आ जाइए राजा ने कहा क्या कहते हो क्या मैं भी पागल हो जाऊं वजीर ने कहा देर मत करिए नहीं तो मरना पड़ेगा अगर बचना है तो पागल हो जाओ वो राजा भागा वो उस कुएं का पानी पी रहा है जान रहा है कि मैं पागल हुआ जा रहा हूं लेकिन कोई रास्ता नहीं वो पानी पी के वापस लौटा उस दिन उस गांव में बड़ा जलसा मनाया गया सारे गांव में जान में गिरे पिटे मंदिरों में घंटा बजे सारे गांव में दिए जले और सारे गांव के लोगों ने भगवान को धन्यवाद दिया तेरी बड़ी कृपा हमारे राजा का दिमाग ठीक हो क्योंकि अब राजा भी कूद रहा था चिल्ला रहा था नंगा फिर रहा था कपड़े फेंक दिए अब राजा ठीक हो गया पागलों की बच्चियों लेकिन दिखाई पड़ना मुश्किल है हजारों साल तक अगर कोई एक बात हमारे चारों तरफ मंडराती रही हो गूंजती रही हो तो वो हमारे खून और हड्डी का हिस्सा हो जाती मोक्ष की कामना इस देश की खून और हड्डी में घुस गई और जीवन की कामना उसी मात्रा में छीन हो गई है मृतप्राय हो गई लेकिन जीवन ही सत्य है और जीवन से अतिरिक्त तो कोई मोक्ष न है और न सत्य है हाँ ये बात सच है कि अगर कोई जीवन को पूरी तरह जिए पूरे आनंद में पूरी प्रार्थना में परमात्मा के पूरे अनुग्रह में और अगर जीवन के इंच इंच को जाग कर दिए होश से दिए आनंद से दिए और जीवन की प्रत्येक चीज को ऐसे दिए जैसे परमात्मा को ही जी रहा है श्वास भी ऐसे ले जैसे परमात्मा ही भीतर गया और बाहर आया भोजन भी ऐसे करे जैसे परमात्मा का ही भोजन हो रहा है रास्ते पर चले भी ऐसे जैसे परमात्मा ही चारों तरफ है चारों तरफ जो लोग दिखाई पड़े उनकी आंखों में भी परमात्मा की झलक देखे वृक्ष के फूल में वो खिलता मालूम पड़े सागर की लहर में वो नाचता मालूम पड़े चांद की किरणों में वो ना उतरता हुआ मालूम पड़े चारों तरफ परमात्मा घेर ले जीवन ही परमात्मा हो जाए तो निश्चित ही मोक्ष उपलब्ध होता है लेकिन वो मोक्ष मृत्यु वाला मोक्ष वो मोक्ष मरने वाला मोक्ष नहीं वो मोक्ष जीवन है लिविंग है वो जीवन का ही परिपूर्ण विस्तार वो जीवन का ही पूरा उद्घाटन एक ऐसा मोक्ष जो जीवन का ही उद्घाटन है अगर ऐसी प्रतिभा को हम मुक्त न कर सके तो इस देश का कोई भविष्य नहीं हो सकता इसलिए तीसरा सूत्र आपसे कहता हूं मोक्ष से मुक्ति ये बड़ा अजीब लगेगा मोक्ष से मुक्ति जीवन से प्रेम मोक्ष से मुक्ति और ये मत सोच लेना कि मैं कोई मोक्ष विरोधी हूं सच तो यह है कि जिन्होंने जीवन से विपरीत मोक्ष बताया वे ही मोक्ष विरोधी उन्होंने ही जीवन को मोक्ष तक पहुंचने उन्होंने बाधा डाल दी उन्होंने रास्ता भटका दिया नदी का वो नदी को मरुस्थल में मोड़ के ले गए और जो नदी सागर तक अपने आप पहुंच जाती किसी को पहुंचाने की जरूरत न थी नदी को सागर तक पहुंचाने के लिए किन्हीं इंजीनियरों की जरूरत नहीं होती लेकिन नदी को अगर सागर से जाने से रोकना हो तो फिर इंजीनियरों की जरूरत पड़ती राजकुमार नहीं इंजीनियरों की जरूरत पड़ती है नदी को अगर मरुस्थल में ले जाना हो नदी को अगर सागर से पहुंचने से रोकना हो तो इंजीनियर की जरूरत पड़ती है और अगर नदी को सागर में जाने देना हो तो किसी इंजीनियर की कोई जरूरत नहीं नदी सहज जीवन की नदी सागर तक पहुंच जाती जीवन तो मोक्ष तक पहुंच सकता है लेकिन पंडितों की कृपा चाहिए वो पंडित वो इंजीनियर मोक्ष के इंजीनियर वो पंडित जीवन के रास्ते को मरुस्थल में भटका और जितना जीवन मरुस्थल में भटकने लगता है उतना ही पंडितों का व्यवसाय जोर से चलने लगता है क्योंकि जितना जीवन दुखी होता है उतना ही आदमी पूछता है कि मार्ग बताओ पहले मार्ग भटकाओ नहीं तो मार्ग पूछने कौन आएगा सच तो यह है कि अगर दुनिया का पंडितों से छुटकारा हो जाए और एक एक आदमी सहज वृत्ति से जीवन के आनंद को जीने लगे तो मुश्किल से कुछ लोग बचेंगे जो मोक्ष तक न पहुंचे अधिकतम लोग मोक्ष तक पहुंच जाएंगे जीवन की सहज धारा मोक्ष की तरफ है जीवन की सहज धारा परमात्मा की तरफ है लेकिन महात्मा बीच में खड़ा हुआ है वो कहता कहां जा रहे हो अगर उसकी मानो तो मुसीबत है उसकी न मानो तो मुसीबत है मैंने सुना है एक गांव में एक उपदेशक कुत्ता था बड़ा खतरनाक कुत्ता था तो कुत्ता वैसे खतरनाक होता है और फिर उपदेशक जैसे नीम पे चढ़ा हुआ करेला हो कुत्ता वैसे दिन रात चिल्लाता फिर वो उपदेशक था तो और मुसीबत वो सुबह से निकलता था और जहां भी कोई कुत्ते मिल जाए दो चार कुत्ते मिल जाए उनको फौरन समझाना शुरू कर देता समझाता क्या समझाता वो ये था कि कुत्तों की जाति का बड़ा पतन हो गया और हम सब रास्ते से भटक गए और हम सब गलत काम कर रहे हैं उससे कौन उससे कौन सा गलत काम तो वो कहता है कि देखो हमारे ऋषि मुनियों को देखो पहले जो हो चुके वो बिल्कुल मौन रहते थे कभी भोंकते नहीं और तुम दिन रात भोंकते हो ये भोंकना ही पाप है अब बड़ी मुश्किल होगी कुत्ता न भोंके तो मुसीबत और भोंके तो पाप है अब कुत्ता भोंकेगा ही नहीं भोंकेगा तो जान घुटती है भीतर भोंकता है तो मुसीबत होती है कुत्ता यह नहीं भोंकना कुत्ते सुनते और कहते कि बात तो आप ठीक कहते हैं लेकिन बड़ी कठिन मालूम होती है हाँ कुछ बहुत ही संकल्पवान लोग होंगे वो साथ लेते होंगे हम तो साधारण कुत्ते हैं हम तो साधने में मुश्किल होती है लेकिन फिर भी सुनते हैं और एक बात पक्की कि वो जो उपदेशक कुत्ता था वो कभी नहीं भोंकता था इसलिए कोई ऐतराज भी नहीं उठा सकता कारण असल में दूसरा था वो दिन भर में बोल बोल के इतना थक जाता था कि भोगने का उपाय नहीं भोंकने के लिए ताकत चाहिए और भोगने का काम बोलने से हो जाता लेकिन दिन रात समझाते समझाते गांव के कुत्ते परेशान हो गए और एक दिन अमावस की रात की गांव के कुत्तों ने कहा कितने दिन से हमारा नेता हमें समझा रहा है हम उसकी मानते ही नहीं नेता हमेशा समझाते हैं मानता कौन है और ध्यान रखना जिस दिन मान लोगे उसी दिन नेता की मौत हो जाएगी नहीं मानते इसलिए नेता जिंदा है वो समझाता चला जाता है तुम मानते नहीं वो समझाता चला जाता है उन कुत्तों ने कहा कि बहुत बेचारा कष्ट उठाता है बड़ा पुराना नेता है हमारा इसकी बात मान ही लेनी चाहिए आज की रात तो कम से कम हम कसम खा लें कि कोई नहीं भौंकेगा अमावस की रात की सारे कुत्ते चुप पड़ गए एक एक कोने में बड़ी मुश्किल थी ये बात बड़ी तपश्चर्या साधना योगासन लगाना पड़ा होगा तब कहीं चुप हो सके होंगे मगर अपने गले को घोटे हुए पड़े बड़े टेम्परेशन आने लगे बड़ी उत्तेजनाएं आने लगी कहीं कोई पुलिस वाला रास्ते से निकल गया अब पुलिस वाले को देख ले कुत्ता और न भोगे मगर संयम साधा उन्होंने बहुत संयम साधा बड़ी हिम्मत की बड़ी मुश्किल की जैसा उपवास वगैरह के दिन सब लोग ताकते हैं संयम उसी तरह का संयम उन पड़ गया लेकिन प्रतीक्षा करने लगे कि आखिर रात को तो बीतेगी सुबह तो होगी रात भर की तो कसम खाइए सुबह भोंक लेंगे इकट्ठा भोंक लेंगे मन में कल्पना करने लगे कि सुबह भोंकने में कैसा कैसा मजा आएगा जो जो लोग बात करते हैं वो पता है उन्हें कि सुबह भोजन करने में कैसा मजा आएगा वो कुत्ते बिचारे लेकिन सुबह की आशा में अपने मन को समझाए संतोष दे रहे हैं उपदेशक कुत्ता निकला अपने वक्त पर उपदेश रहे लेकिन आज गांव में सन्नाटा कोई कुत्ता भोगते नहीं सब कुत्ते ने कहा हो क्या गया क्या सारे सब कुत्ते मर गए मेरा क्या होगा लेकिन देखा कि कुत्ते गली कुछों में डूबे पड़े हुए हैं अब उपदेशक जब कोई भोग ही नहीं रहा है तो क्या करे रात बारह बज गए आज पहली दफा उपदेशक के गले में जोर की खराक होती इतनी देर से बोल नहीं पाया और बड़ी घबराहट हुई उसको भोंकने का मन होने लगा उसने कहा ये भी क्या मामला है आज जब कोई नहीं भोंक रहा तो मेरा भोंकने का मन क्यों हो रहा फिर तो बहुत मुश्किल हो गई कोई समझाने को नहीं मिला कोई समझने को नहीं मिला फिर क्या करे फिर उसे ख्याल आया कि किसी एकांत गली में जाके जोर से भोंक ले वो भोंका एक गली में जाके जैसे ही भोंका सारे मुद्दों का संयम टूट गया उन्होंने सोचा किसी एक ने गद्दारी कर दी उन्हें क्या पता कि नेता ही गद्दारी कर रहा हमेशा नेता ही गद्दारी करता है लेकिन नेता होशियारी से गद्दारी करता है पता भी नहीं चल पाता फंसता अनुयायी है जब भी फंसता अनुयायी फंसता है उन्हें क्या पता वो समझे कि हमारे बीच से किसी ने संयम तोड़ दिया क्योंकि ये तो वो सोच ही नहीं सकते थे कि सब कुत्ता और ऐसा कभी करेगा वो तो कभी भौंक ही नहीं सारे कुत्ते भौंकने लगे जब उनने देखा एक ने तोड़ दिया तो हम भी क्यों परेशान हो सारे गांव में शोरगुल मच गया उपदेश कुत्ता वापिस लौट आया और उसने कहा दोस्तों इसी वजह से हमारा पतन हो रहा है ये भौंकना बहुत गलत है ये कुत्तों की जाति का अपमान है जब तक तुम भोंकते रहोगे तब तक कुत्तों की कभी कोई इज्जत नहीं होगी भोंकना बंद करो किसी को क्या पता कि उस क्या घटना घटी जीवन को सहज बिल्कुल सहज तो हम कहें जैसा जीवन है अगर बैठा जीवन को चुपचाप बहने दिया जाए तो जीवन सहज ही वहां पहुंच जाता है जहां प्रभु वो मंदिर तक पहुंच जाता है लेकिन बहुत असहज किया गया है इतना सिखाया गया इतना सिखाया गया है कि सब चक्कर हो गया उस चक्कर में पूरी मनुष्य जाति की चेतना सहज जहां जा सकती है वहां नहीं जा पा रही और जहां जा ही नहीं सकती वहां जाने की व्यर्थ चेष्टा कर रही है और इस व्यर्थ चेष्टा में भारत अग्रणी इस मोक्ष की कामना में भारत प्रथम खड़ा है और इसलिए जीवन की दौड़ में भारत अंतिम हो गया है मोक्ष की कामना में प्रथम है खड़ा इसलिए जीवन की दौड़ में अंतिम हो गया है अगर जीवन की दौड़ में ही प्रथम खड़े होना हो तो ये मरने की कामना हो देनी चाहिए धर्म का अर्थ मेरी दृष्टि में जीवन को मोक्ष बनाना है धर्म का अर्थ मेरी दृष्टि में जीवन की क्षुद्रतम वस्तु को श्रेष्ठतम की गरिमा से मंडित करना क्षुद्रतम को अत्यंत क्षुद्र को श्रेष्ठ की गरिमा से मंडित करना है बच्चे तक तो को खाना खाने को कपड़ा पहनने को उठने बैठने को गरिमा से भर देना है पूजा और आराधना की गरिमा दे देनी है जीवन का सामान्य से सामान्य क्रम परमात्मा की प्रार्थना बन सके जीवन का विरोध नहीं और हम धीरे धीरे बहते हुए किसी दिन उस क्षण को उपलब्ध हो जाए जहां जीवन मुक्ति बन जाता है जहां जीवन बंधन नहीं जहां प्रकृति का द्वार परमात्मा पर जहां शरीर बाधा नहीं है मार्ग है जहां संसार मोक्ष से उल्टा नहीं है जहां जान लिया गया देख लिया गया वहां संसार की मोक्ष ये हो सकता है और ये हो सके तो जीवन में क्रांति आ सकती है इन तीन दिनों में ये तीन सूत्र मैंने कहे अतीत से मुक्ति विश्वास से मुक्ति जीवन के द्वार पर प्रवेश के लिए तीन सीढ़ियां लेकिन मेरी बात को मान लेने की कोई जरूरत नहीं है मेरी बात को सोचना विचारना खोजना प्रयोग करना हो सकता है मेरी बात गलत हो हो सकता है सही हो मैं कौन हूं कौन की सही है कि गलत है उसकी जांच पर साफ करना हो सकता है उस जांच पर में कुछ सत्य का कण दिखाई पड़ जाए तो वो कण आपके जीवन में क्रांति और एक छोटी सी क्रांति की किरण आ जाए तो आज नहीं कल पूरे जीवन में क्रांति का सूरज भी उतर आ रहा है एक दिया जल जाए फिर सूरज तक पहुंचने में बहुत कठिनाई नहीं क्योंकि जो दिए में छिपा है छोटे रूप में तो